बाब नंबर दो याकूब अवान ने सुन रखा था कि वक्त मर्ग इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी ज़िंदगी लम्हे भर के वक्फे के अंदर गुजर जाती है मगर मौत को बिलमकबिल पाकर उसे सिर्फ दो चार ही मनाजिर दिखाई दिए जिनके बीच सालों की मुद्दत पड़ी थी सबसे पहले उसे अपने आबाई गांव का एक रुख नज़र आया यह गांव का माथा था जिसके साथ उसकी गहरी और तवील आशनाई थी कि इस तरफ उसके खेत पड़े थे सुबह और शाम अपनी पचास साल ज़िंदगी के एक एक दिन सिर्फ जंग के तीन साल छोड़कर याकूब अवान ने खेतों से घर को लौटते हुए गांव का ये रुख देखा था यह रास्ता उसके अपने घर की मानिंद था जहां उसे नज़र की हाजत ना होती थी गुप्त अंधेरे में वो अंदर और बाहर चल फिर सकता था बिस्तरे मर्ग पर सबसे अव्वल उसे यह मंज़र दिखाई दिया जिसकी कच्ची दीवारों का नक्शा एक झिल्ली की मानिंद उसके दिमाग पर फैला हुआ था याकूब अवान पचास बरस की उम्र को पहुंचा था कि वो गांव जिसमें वो पैदा हुआ था उससे छुट गया था पिछले आठ बरस के अरसे में उसने अपने गांव की ये शक्ल सिर्फ एक बार देखी थी और वो भी महज एक रात के अंधेरे में चोरों की मानिंद तारीकी के अंदर वो उस गांव में दाखिल हुआ था जो अब एक मुख्तलिफ सरजमीन पे खड़ा था और रातों रात निकल आया था इस गुमशुदा मंजर के साथ याकूब अवान के सामने फिर अपने माँ बाप का चेहरा उभरना शुरू हुआ अयूब अवान के तांबे की रंगत वाले चेहरे पर बड़ी बड़ी फैली हुई मूछे थी और चकोर माथे के ऊपर बीच सर के चीर निकले बालों के लंबे लंबे पटे थे जिन्हें वो दिन भर लकड़ी के बारीक कंगे की मदद से सर पे जमाता रहता था गो बुढ़ापे में पहुंचकर उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और रंगत सांवली पड़ गई थी मगर मरने वाले को अपने बाप की जवानी की सूरत ही नज़र आई जो उसने बचपन में देखी थी लंबे और गुठे हुए बदन वाला वो आदमी एक तनावर पेड़ की मानन था जिसके बारे में मशहूर था कि जवानी के दिनों में सिखों के एक जत्थे में शामिल था जो इलाके में मवेशियों पर डाके डाला करते थे कहा जाता था कि अयूब अवान की जवानी का ये आलम था कि जवान बछड़ी को कांधों पर उठाकर खलियान की दीवार से बाहर फेंक देता था और दूध देती भैंस के सींगों को हाथों में दबोच कर एक ही मड़ोड़ से ज़मीन पे चित कर देता था मगर घर बसाने के बाद ही कुदरत की तरफ से उसकी ज़िंदगी में सुधार आ गया था और वो अपनी आधा मुरबा आबाई ज़मीन की काश पर कनात से गुजर बसर करने लगा था अमृतसर के नवाब में सिखों के उस छोटे से गांव कबीर सिंह वाला में अवानों का एक ही मुसलमान घराना था कुछ इस बिना पर और बाकी कुछ इस वजह से कि अपनी कौम को नाम का अटूटंग बनाना अवानों की रीत थी दोनों बाप बेटा अयूब अवान और याकूब अवान के पूरे पूरे नामों से पुकारे जाते थे अपने बाप का चेहरा देखते हुए याकूब अवान के आहिस्ता आहिस्ता सर्द होते हुए खून में एक हल्की सी लहर पैदा हुई अब उसको उस रात की तस्वीर नज़र आ रही थी जिसकी सुबह को वो पहली बार अपना गांव छोड़कर गया था सहरी का वक्त था और याकूब अवान अपने बेली जगत सिंह के साथ गांव के एक मकान की दीवार के साय में खड़ा था तेरहवीं के चांद की रात थी गांव की दीवारें और गलियां एक बेअसल से दूधिया रंग में रंगी हुई नजर आ रही थी बाकी सारे गांव पर हु का आलम था सिवाय इस कोने के जहां मकान के कोठे पे लड़कियों का एक छोटा सा झुरमट चांदनी में बैठा था उस ग्रोह के बीच से ऊंची सरगोशियों और खीखी हंसी की आवाज़ें आ रही थी नीचे गली में जगत सिंह मदहोश खड़ा हाथ में कलूनत कौर की एक जूती लिए मुंह उठाए उसकी मिनतें कर रहा था पास याकूब अवान खड़ा हंस रहा था शुरू रात से वो दोनों जगत सिंह के बड़े भाई भगत सिंह के ब्याह के मेले में गांव की गलियों में मोज उड़ाते फिरे थे इस वक्त जब मेला ख़त्म हो चुका था और सब लोग थक हार कर सो चुके थे जगत सिंह को कोठे पर कलूनत कौर की खबर मिली थी और वो ऐसा जमकर वहाँ खड़ा हो गया था कि हिलने का नाम ना लेता था दोनों लड़के मुसलसल एक दिन और एक रात के जागे हुए थे चौबीस घंटे पहले वो बारात के लिए उठे थे फिर दिन चढ़े वो घुड़सवारों तांगों बैलगाड़ियों और पैदलों की बारात लेकर गांव से रवाना हुए थे भगत सिंह सर पे केसरी पगड़ी बांधे गली में बोस्की का कुर्ता और कमर में सुर्ख लाचा पहने बगल में कृपान लटकाए दूल्हा बना सफ़ेद घोड़ी पे सवार बारात के बीच मुंह जोर घोड़ी की बाघ खेचे उसे कदम कदम चलाता जा रहा था उसकी पुष्ट पर उसका बारह साल तायाजाद भाई उधम सिंह एक हाथ में अपने जितनी लंबी नंगी तलवार ताने और दूसरा हाथ भगत सिंह की कमर में डाले उसके साथ लगकर बैठा था आगे आगे दो मेरासी ढोलों पर मुस्तकिल मेले की थाप दिए जा रहे थे जिनकी धमक से घोड़ी बार बार बिदकती थी और उधम सिंह को तलवार संभालनी मुश्किल हो रही थी अयूब अवान भगत सिंह के बाप और उसके भाइयों के हमरा जो अपनी अपनी घोड़ियों पर सवार थे साथ साथ चल रहा था एक तांगे और एक बैलगाड़ी में औरतें रंगीन कपड़े चांदी के जेवर और तिल्ले वाले लंबे लंबे चमकदार परांदे पहने एक दूसरी से ठुस कर बैठी थी उधेड़ उम्र औरतें लड़कियों पर नज़र जमाए रखे हुए थीं और हर चंद मिनट के बाद उन्हें सीना नंगा रखने और टांगे फैलाकर बैठने पर सरजनिश कर रही थी इसके बावजूद लड़कियां बालियां जगत सिंह और याकूब अवान को देख देख कर जो दोनों एक ही खच्चर पर सवार साथ साथ चले आ रहे थे अटकेलियां करने से बाज ना आती थी गांव की सबसे सर निकालती हुई मुटियार कलोनत कौर वादे के बावजूद बारात के साथ ना आई थी जगत सिंह कलूनत कौर पे आशिक था और उसकी मतलाशी आंखें भटकी फिरती थी घर से रवाना होने से पहले उसने दारू के चंद घूट चढ़ाए थे और उनकी मस्ती में वो कभी कभी खच्चर को एड़ लगाता और बैलगाड़ी में बैठी हुई किसी लड़की का परांदा उचक कर उसे तुनक मारता लड़की हल्की सी चीख मारती और दोनों हाथों से अपना परांदा खींचने लगती जगत सिंह परांदा हाथ से छोड़ता तो लड़की अपने साथ बैठी हुई लड़कियों पे ढह जाती हाय जग्गू मस्टंडा लड़की सुर्ख सुर्ख मुंह से बोलती जा अपनी माँ का परांदा पकड़ परांदा ही है नाला तो नहीं जगत सिंह जवाब देता नाले को तो जंदा लगा के रखती हो हाय शर्मा लड़कियां खीखी करके हंसती कुछ देर तक जगत सिंह पर मस्ती की लहर रहती फिर वो ठंडा पड़ जाता उसकी आंखें एक बार फिर कलूनत कोर की तलाश में वहशी हो जाती चलते चलते बारात के बीच हल्की सी खलबली मच गई दूल्हे की घोड़ी सीखपा हो रही थी भगत सिंह एक हाथ से बागे मड़ोड़े दूसरे से घोड़ी की गर्दन को थपकियां देकर राम करने की कोशिश कर रहा था उसके पीछे उधम सिंह घोड़ी की पीठ पर से फिसलता ही चाहता था वो देर से शिकायत कर रहा था कि भारी तलवार उसे संभाली नहीं जाती आखिर जब घोड़ी दूसरी बार अगली टांगे हवा में उठाकर सीधी खड़ी हुई तो उधम सिंह नीचे आ गिरा जब वह जमीन से उठा तो उसने तलवार हाथ से छोड़ दी और रोने लगा मेरा मोंडा दुख दे रहा है उसने फरियाद की उसके बाप ने बढ़कर उसे थामा जसवंत सिन्हा लड़के का गुट सूझ गया है उधम सिंह का बाप अपने छोटे भाई से बोला उसकी बाहें नकारा करने की सलाह है ले अपनी तलवार जसवंत सिंह ने घोड़ी से उतरकर तलवार पकड़ी और उसे न्याम में डालकर उधम सिंह के सर पर हाथ फेरने लगा चल ऐसे ही बैठ जा कोई बात नहीं डुड्डी वाले पहुंचकर थोड़ी देर के लिए पकड़ लेना चल चल ब्याह के मौके पर रोया नहीं करते डड्डी वाला दुल्हन के घर का गांव था जो लाहौर से चंद कोस उधर वाकया था कुछ ब्याह की रंगीनी के नशे में और कुछ डोलों की लहू उछालने वाली थाप के जोर पर आखिर बारात बीस मील का सफ़र तय करके दोपहर के वक्त जब सूरज सर से ढलने पे आन लगा लड़की गांव में दाखिल हुई ढोल बजाने वालों ने मेज़बानों के घर के आगे जमकर एक ताल पर ऐसी धमक उठाई कि बुढ़े बुढ़े सिख मस्ती में आकर नाचने लगे गांव के भांडों मेरासियों ने आकर पंडाल लगाया और अपने टोट के सुना सुना कर और बारात वालों पर भप्तियाँ कस कस कर वेलें वसूल की खाना लाया गया तो थके हारे और भूखे बराती उस पर टूट पड़े उसके बाद शादी की रसूमात मुकम्मल की गईं जब रुखसती का वक्त आया तो हसब मामूल झगड़ा होने लगा झगड़े की बुनियाद जहेज़ के एक पलंग के पाए पर थी तुमने रोगनियों की जबान की थी भगत सिंह का बाप गरजा पोल से फिर गए हो मानू ये देख आंखों के अंधे लड़की के बाप ने पायों की जाने इशारा करके कहा तुझे क्या दिखाई देता है ऊपर माँ की सुर्खी लगा दी तो रोगनी हो गए हमारी बेजती होगी चुप कर ऊपर का बोल बोला तो खाली हाथ वापस कर दूंगा भगत सिंह लोगों को हटाकर आगे बढ़ा और धम से एक घूसा दुल्हन के भाई के मुंह पर जड़ दिया लड़के की नाक से खून बहने लगा दुल्हन के दूसरे भाई ने जवाबी घूंसा भगत सिंह के मुंह पर रसीद किया जिससे भगत सिंह की आंख पे देखते ही देखते सूजन उठने लगी छुड़ाने बचाने वालों की अफरा तफरी के बीच उधम सिंह अकब में दुबका खड़ा था उसके हाथ में अब तलवार की बजाय नंगी कृपान थमा दी गई थी और उसके चेहरे से जाहिर होता था अब रोया कि अब रोया हाथापाई के दायरे के बाहर लोग खड़े हंस रहे थे घबराओ नहीं भाई जी भगत सिंह का चचा एक बुजुर्ग सिख मेहमान से जो शक्लो सूरत से शहर का बासी दिखाई देता था कह रहा था ये हमारी रीत है ये कैसी रीत है भाई जी जवान अगर जोरे बाजू से पत्नी को लेकर ना जाए तो उसकी क्या इज्जत रह जाए दिन ढल रहा है जब बारात डोली लेकर बीस मील के वापसी सफ़र पर रवाना हुई रात भीग चुकी थी भगत सिंह के बाप के दलान और सहन में मर्द बैठे थे और उसके बड़े भाई के घर में औरतें जमा थीं बीच में एक दीवार थी बुढ़े और उदेड़ उम्र के मर्द दिन भर की मसाफत से थक कर एक दूसरे की पुश से पुश लगाए बैठे कीकर और गुड़ का तुंद दारू पी रहे थे कभी कभी उनमें से कोई एक अचानक वाहे गुरु का ला यानी सा नारा लगाकर ऊँगने वालों को चौंका देता जो जाग रहे थे वो ऊंची नीची आवाज़ों में खेतों खलियानों की बातों के बीच बीच गुजरी हुई जवानियों के किस्से दोहराकर इस रात की रात अपनी ज़िंदगी की ललकार को दोबारा जगाने की कोशिश में मसरूफ़ थे वो जो जवान थे उनके सामने ऐसे वक्त को मुड़कर देखने के लिए अभी उम्र भर की मोहलत पड़ी थी वो अपनी ज़िंदगी की दिल फरेबी से अक्सर बेखबर दारू की तरंग बर्क रफ्तार घोड़ियों के तलिसम और नोखेज लड़कियों के गीतों की आवाज़ों में गुम थे तेरहवीं रात का चांद बीच आसमान में खड़ा था दीवार की दूसरी जानब कातक की सर्द रात के अंदर चांदी में नहाए हुए सहन में औरतों के छोटे छोटे झुमघट बिखरे हुए थे बूढ़ी औरतें अपने अपने घरों को जाने की बजाय मोटे मोटे खेसों में लिपटी लिपटाई सुकड़ कर ज़मीन पे सो रही थीं जो उधेड़ उम्र थीं वो अपने खाविंदों बेटों और बेटियों के दिए हुए दुखों से अटे हुए चेहरे उठाए स्पाट आवाज़ों में पुरानी शादियों के शुगफ का जिक्र कर करके दिलों को ताज़ा करने का सामान कर रही थीं सिर्फ कच्ची उम्र की और जवान लड़कियां टोलियों में बटी थकन से बेनियाज इधर से उधर आ जा रही थीं एक बेबाक टोली कोठे की दीवारों से लिपटी मर्दाने सहन में बैठे लड़कों की एक टोली को ताक ताकर आपस में हंसी मजाक कर रही थी और इक्का दुक्का उनमें से अपनी बाहें लहरा कर चांद की रोशनी में चूड़ियाँ चमका रही थी उनके नीचे सहन के एक कोने में एक दूसरी टोली ढोलक लिए बैठी थी जब भगत सिंह की दुल्हन घर में दाखिल हुई थी तो यह ढोलक अपनी बहार पर थी गांव की माहिर ढोलक नवाज औरतें जिनमें मेरासने भी थीं बारी बारी ढोलक पर कब्जा जमाकर शादी और दुल्हा दुल्हन की आमद के मकबूल आम गीत गा रही थी उस एक घंटे के दौरान ढोल की और लड़कियों के गीतों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई ना देता था मगर रात गहरी होने के साथ ढोलक की थाप हल्की पड़ चुकी थी और लड़कियों के इब्तदाई चीखते चिल्लाते हुए गीत अब नरम सुरों में उठ रहे थे जैसे कि ब्याह की गहमा गहमी से गुजर कर इन गीतों ने अपना सारा बोझ झटक दिया हो और नौ उम्र बदनों की मानन निखरे निखारे हुए अब इन लड़कियों की अपनी बेमालूम उमंगों का पैगाम दे रहे हूँ ठहरी हुई सर्द रात की लहरों पर गीत के बोल छलावों की तरह उभरते और डूबते अटकेलियाँ करते हुए फिजा में बिखर रहे थे साथ वाले सहन में याकूब अवान दीवार से टेक लगाए बैठा था उसने शुरू रात में दारू के सिर्फ चंद गूट ही चके थे और इस वक्त पूरे होश में था जगत सिंह कटोरे के कटोरे चढ़ाकर दुनिया और माफिया से बेखबर उसके पास ज़मीन पे पड़ा खराटे ले रहा था देर तक याकूब अवान वहाँ बैठा ढोलक की सुस्त सी थाप और लड़कियों के मुलायम लंबी लंबी सुरों वाले गीतों को सुनता रहा जिनमें कवार पने की तानों के साथ साथ मोहब्बत में लुटने वालों की बेसरो समानी के राग थे उन्हें सुनते सुनते याकूब अवान के दिल में अचानक एक वीरान सी बेचैनी का एहसास पैदा हुआ उसने जगत सिंह को कंधे से झंझोड़कर बेदार करने की कोशिश की जगत सिंह नींद में बुड़बुड़ाया और करवट बदलकर बेसुध हो गया याकूब अवान ने उसे गेसू से पकड़कर खींचा मैं घर जा रहा हूँ वो बोला जगत सिंह ने पल के पल को सुर्ख सुर्ख आंखें खोली और फिर बंद कर ली घर जा रहा हूँ याकूब अवान ने दोहरा कर कहा क्यों बे जगत सिंह उसके कुर्ते का दामन दबोच कर बोला मुझे छोड़कर ना जा अवान कुर्ता उसके हाथ से छुड़ाकर उठ खड़ा हुआ फेरा लगाकर मुड़ आऊँगा जग्गू वो बोला और सहन से निकलकर बाहर आ गया अवान के घर का सहन वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था वो चंद कदम हटकर दौड़ा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया वहाँ से उसने सहन में छलांग लगा दी सहन में बंधी हुई उनकी घोड़ी रंगीली ज़मीन पर खुर मारकर आई याकूब अवान ने रंगीली की गर्दन और पीठ पर हाथ मारा रंगीली ने गर्दन मोड़कर होंठों से उसके कान को गुदगुदाया याकूब अवान सहन के बीच आकर रुक गया और चेहरा उठाकर आसमान पर चांद को देखने लगा एक तरफ उसके बदन की थकान उसे अपने बिस्तर की जानब खींच रही थी दूसरी तरफ उसके दिल की चाह उसे ब्याह वाले घर को ले जाती थी वो दीवार की तरफ बढ़ा तो उसका जी टापने को ना किया उसने ज़मीन पर लेटी हुई लकड़ी की सीढ़ी उठाकर दीवार के साथ खड़ी की और उस पर चढ़कर बाहर गली में छलांग लगा दी पुरसकूत चांदनी गांव की गलियों और दीवारों से लिपटी थी याकूब अवान देर तक एक गली से दूसरी गली और दूसरी से तीसरी में फिरता रहा गांव भर में उसे कोई आदमी नज़र न आया गलियां ऐसे वीरान पड़ी थी जैसे इनके बासी हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हों फिज़ा पर गहरे ख्वाब की मदहोशी तारी थी आखिर थकन से चूर होकर याकूब अवा ने भगत सिंह के घर की राह ली घर के करीब आकर उसके कान में एक औरत के गाने की डूबती उभरती आवाज़ आई वो दहलीज पार करके ज़मीन पर फैले हुए जिस्मों से बचता बचाता जाकर जगत सिंह के पास अपनी जगह पर बैठ गया दीवार से कमर टेक कर उसकी पुश्त को बेानतहा आराम हासिल हुआ सेहन में अब सब के सब मर्द अपनी बातें ख़त्म करके वहीं पर लेट कर सो चुके थे दारू के नशे ने उन्हें गहरी मगर बेचैन नींद की हालत में पहुंचा रखा था हर चंद मिनट के बाद कोई ख्वाब आलूद जिसम हिलता और हलक से एक मुख्तसर सी बुलंद आवाज़ निकाल के दोबारा साकित हो जाता कोई दूसरा बदन कसमसाता फिर बुड़बुड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता जिंदगी के आसार सिर्फ साथ वाले घर में थे जहाँ सहन में एक औरत होले होले गा रही थी और कोठे पर लड़कियों की टोली की हिम्मत अभी कायम थी याकूब अवान दीवार पर सर रखकर औरत के गाने की आवाज़ सुनने लगा उसकी आंखें बंद होने लगीं उसके कानों में आने वाली आवाज़ की अजीब सिफ्त थी गीत के बोल मादूम थे अल्फाज आवाज़ की लय में तहलील हो चुके थे बाकी सिर्फ एक अकेली औरत के हलक के सुर रह गए थे याकूब अवान ने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई नौजवान लड़की ना थी बल्कि उधेड़ उम्र औरत थी जो गाने के लिए ढोलक की आरइश या किसी दूसरी आवाज़ के सहारे के बगैर अपने सीने से एक तवील तान की हलावत पैदा कर रही थी जिसमें ना रुखसती की बका थी ना आमद की तरंग सिर्फ एक इंसानी ज़िंदगी की खालिश पुकार थी जैसे कि वो ज़िंदगी अपने आप को तने तनहा पाकर दुनिया को अपने वजूद की कोफ्त का पता दे रही हो उसे सुनते सुनते याकूब अवान की आंख लग गई जब दोबारा उसकी आंख खुली तो ओस और सर्दी की वजह से उसका बदन अकड़ चला था उसकी गर्दन में हल्का सा बल पड़ चुका था जिसे उसने सर घुमा घुमा कर दूर करने की कोशिश की गाने वाली औरत की आवाज़ बंद हो चुकी थी सिर्फ कोठे पर लड़कियों के ग्रोह में अभी हलचल बाकी थी और इक्का दुक्का आवाज़ें याकूब अवान तक पहुंच रही थी रात ख़त्म होने में दो घंटे बाकी थे यकायक याकूब अवान के कान में एक मानूस आवाज़ पड़ी उसने दोनों हाथों से जगत सिंह के नीम मुर्दा जिसम को झंझोड़ा जग्गू जग्गू उसने झुककर जगत सिंह के कान में कहा तंग ना कर तंग ना कर कुबे जगत सिंह नींद में बोला जगू उठ याकूब अवान ने कहा उठ उठ कलवंती जगत सिंह मशीन की कल की मानिन झटके से उठ बैठा कलवंती हाँ कहाँ है कोठे पर तूने देखी है हाँ अपनी आंखों से मुझे आवाज़ आई है कुबे जगत सिंह उठ कर बैठा मजाक हुआ तो तेरी चमड़ी निकाल दूंगा दोनों सहन के दरवाजे से निकले और घर के गिर चक्कर काट कर अकब की गली में पहुँचे जहाँ कोठे का पिछला रुख था कलवंती जगत सिंह ने होले से बेएतबारी लहजे से आवाज़ दी कोठे पर खामोशी हो गई कलवंती वो ज़रा ऊंची आवाज़ में पुकारा ऊपर से कोई आवाज़ ना आई ये जगत सिंह गला फाड़ कर चीखा ऊपर से कलोनत कोर का सर नमूदार हुआ जग्गू दफा हो जा वो बोली कलवंती नीचे आ चुप कर जगू मेरा भैया दलान में सोया है जाग पड़ा तो तेरी चमड़ी उतार देगा तो फिर नीचे उतर के आ जगत सिंह होले से बोला मेरी जूती भी नहीं आती तुझे क्या जिन पड़ गए हैं कलवंतिये तू आज बारात में लड़कियों से बदमाशी करता रहा है मुझे सब पता है कलवंती मैं तो तुझे ढूंढ रहा था झूठा बेशर्मा कुबे एवाने का भी मुझे पता है कुब्बा तो मुसला है झूठ नहीं बोलता इन्हें गुनाह हो जाता है झूठा बेशर्मा नीचे तो उतर के आ मेरी जूती भी नहीं आती चल जूती ही फेंक दे वाह मेरी नई जूती है तेरे सर में भी नहीं मारती कलवंतीय जगत सिंह फिर दाड़ा चुप कर जग्गू तेरी मौत आई है मैं जा रही हूँ अच्छा जूती तो फेंक नहीं तो शोर मचा दूंगा ये ले क्लोनत कौर की एक जूती उड़ती हुई आई जिसे जगत सिंह ने हवा में झपक लिया अब एक झलक तो दिखा जा क्लोनत कौर ने हाथ का पंजा फैलाकर खुला दिखा दिया जालिम ना बन कलवंतिए लाचा उठा के एक झलक दिखा दे जगत सिंह बोला तेरे दर्शन को आंखें सूख गई हैं तेरी आंखों पे मूतती भी नहीं मूत के देख पवित्र समझ के पी जाऊंगा ऊपर लड़कियों में खिटमिट शुरू हो गई हाय और आ और हंसी की आवाज़ें आने लगी लड़कियां कलोनत कौर को उकसा रही थीं कलवंत कौर हाय और नाना कर रही थी चंद लम्हों के लिए नीम खामोशी हो गई जिसके अंदर खुसर पुसर जारी थी फिर कलोनत कौर ने सर निकाल कर कहा मूत दूंगी सचमुच चल मूत डींगे मारते हुए जूने सच बोलता हूँ कलवंतिये सो दूँ वाई गुरु की सो दोनों हाथों में जूती थामे सर आसमान को उठाए जगत सिंह फरियादी बना खड़ा रहा तेरा पानी पवित्र समझ के पी जाऊंगा मेरे प्यार की आजमाइश तो कर लड़कियों की खटपट हंसी की हल्की हल्की चीखों और शह देने की आवाज़ें फिर उठी और यकदम दब गई एक लहजे के बाद कलूनत कौर की आवाज़ आई ले फिर सो तोड़ी तो तेरा मुंह काला करूंगी देखते ही देखते कोठे के परनाले से पेशाब की काली लकीर दीवार पर शरशर बहती हुई नीचे गिरने लगी कोठे पर छः सात लड़कियों के सिरों की कतार नमोदार हुई जिनकी नज़रें परनाले पर लगी थीं जगत सिंह ने तेज़ी से बढ़कर जूती का किनारा परनाले की दीवार के साथ दबा दिया जिस पर से पेशाब बह बहकर जूती की नोक के अंदर जमा होने लगा चंद सेकंड में पेशाब का बहाव रुक गया जूती मुश्किल भीग सकी थी और चुल्लू भर उसके अंदर जमा हो गया था जगत सिंह यकदम पीछे हटा और जूती ऊपर उठाकर बोला देख कलवंतीय कॉल का पक्का हूँ उसके साथ ही वो जूती का किनारा होंठों से लगाकर गट से पेशाब का घूंट पी गया आ हा हा हा तेरी रान का अमृत दारू से मीठा है कलवंतिये अब तो नीचे उतर गया कोठे पर हाय और उई और छोटी मोटी हंसती हुई चीखों का शोर उठा दीवार से सरों की कितार गायब हो गई और भागते हुए पाऊँ दबड़ दबड़ करते सीढ़ियाँ उतरकर सहन में गायब हो गए भैंस की तरह मोती है जगत सिंह ने पनारले पर फैलती हुई काली लकीर को देखते हुए कहा फिर वो मुर्दा सी आवाज़ में याकूब अवान से बोला मुँह तो हराम की राह ही गया चली गई है माँ की उसने जूती गली में फेंकी और वहीं पर ढह गया याकूब अवान भी उसके साथ दीवार से टेक लगाकर बैठ गया थोड़ी ही देर में दोनों के सर छातियों पर ढलक गए और वहीं बैठे गहरी नींद सो गए नींद की हद तक पहुँचते पहुँचते याकूब अवान के कान में एक बार फिर उस अकेली औरत के गाने की मध्यम सी आवाज़ उभर कर आई मगर गनूदगी के ज़ोर में उसे पता ना चल सका कि ये तान उसके ख्वाब से पैदा हो रही थी कि फ़िल हकीकत वो औरत पिछले सहन में नींद से आरी आंखें लिए बैठी गा रही थी ब्याह की रात अपने आखिरी दमों पे आ पहुंची थी जब याकूब अवान की आंख खुली तो सूरज निकल आया था जगत सिंह जा चुका था दिन चढ़ने के बावजूद गलियों में किसी आदमी औरत या जानवर की हलचल दिखाई ना देती थी मालूम होता था जैसे गांव के बासी जेरे ज़मीन चले गए हों चौबीस घंटे के बेआराम बदन को उठाए भारी कदमों से याकूब अवान अपने घर को जा रहा था कि एक गली पार करते हुए उसकी नज़र गांव के बाहर एक खेत पे जा पड़ी वहाँ एक मजमा लगा था लगता था जैसे सारे का सारा गांव निकलकर वहाँ जमा हो गया हो अवान मुंह उठाकर उस तरफ को चल दिया लोगों का हजूम एक दायरे की शक्ल में बेआवाज़ खड़ा था दायरे के अंदर एक खैमा चार छः घोड़े और चंद मुतहरिक सर नज़र आ रहे थे अवान अभी कुछ दूर ही था कि अयूब अवान उसे देखकर मजमे से भागता हुआ निकला और बेटे को अपने लहीम हशीम जसे की ओट में लेकर अपने आगे हाँकता हुआ पीछे को ले चला तू कहाँ था नामुराद वो नीची आवाज़ में बोला सारे घर छान मारे हैं चल मुंह से कुछ ना बोल घर जाऊं याकूब अवान ने पूछा नहीं नहीं घरों की तलाशी होगी अपने कमाद में जाकर छुप जा अब्बा क्या हो रहा है बात ना कर झुक जा झुक के चल मेरे आगे आगे रह इधर उधर ना हो चल चल कमाद में जाकर बैठ जा अभी बाप बेटा चंद कदम ही गए होंगे कि पीछे से एक पुलिस का सिपाही दौड़ता हुआ आकर उनके आगे खड़ा हो गया उसने झुककर चलते हुए याकूब अवान को गर्दन से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया बच्चा माजूर है हवालदार साहब अयूब अवान ने सिपाही की मिन्नत की इसको आंखों से दिखाई नहीं देता कमर सीधी नहीं कर सकता पैदाइशी नुक्स है माजूर है हवालदार साहब मेरा एक ही बेटा है सब पता चल जाएगा चौधरी सिपाही बोला माजूर है तो डॉक्टरी के बाद वसूल कर लेना वो याकूब अवान को बाजू से पकड़कर चलाता हुआ ले गया उसे बुखार भी आता है हवलदार साहब अयूब अवान ने नाउमीदी की हालत में आखिरी कोशिश की डॉक्टर साहब को बता देना मेरे लायक जो खिदमत हो मैं तैयार हूँ डॉक्टरी में याकूब अवान फिट निकला भर्ती करने वाले काफले ने अलल अचानक गांव में पहुंचकर खैमा लगा दिया था सरकर्दगी ज़िला का अंग्रेज़ अफसर कर रहा था बाकियों में एक डॉक्टर और उसका अमला महकमा माल का पटवारी और जेलदार और थानेदार के हमरा पुलिस की एक पूरी गार थी इसके अलावा जहानाबाद का मलक आलम जहां अवान जो बरादरी का बड़ा जागीरदार था अंग्रेज़ अफसर के साथ साथ था मलक आलम जहां के बाप सूबेदार जहाँ खान को अंग्रेज़ हुकूमत की जानब से मुल्क में मुख्तलिफ बगावतें दबाने के सिले में सनद तमगा और पेंशन के अलावा बार के इलाके और सिंध में मिला जुलाकर चालीस मुरबे गैर आबाद ज़मीन अता की गई थी ये ज़मीन उसने आबाद करने की बजाय अपने इलाके में जहाँ का वो रहने वाला था प्राइवेट मालिकान से मामला तय करके आठ मुरबे जरखेज़ ज़मीन के बदले में दे दी थी यहाँ उसने जहानाबाद नामी गांव की बुनियाद डाली सूबेदार जहाँ खान और उसकी औलाद गो पंजाब के बड़े ज़मींदारों में शुमार ना होते थे मगर बरदरी और तालीम की बिना पर असर रसूख में दूर तक पहुँच रखते थे ज़िले की हद तक हर आने जाने वाले अफसर के साथ उनका मेल जोल रहता था गांव से सिर्फ चंद नौजवान लड़के दस्तियाब हो सके थे जो डॉक्टरी के लिए नंगे बदन सिर्फ जांगिए पहने एक कितार के अंदर सर्द हवा में खड़े कपकपा रहे थे जब डॉक्टर उनके जांगिए गिराकर मुआयना करने लगा तो लड़कों ने मजामत की अंग्रेज़ अफसर ने करीब जाकर हाथ में पकड़े हुए बैद की मदद से एक लड़के का जांगिया कमर से नीचे किया डॉक्टर उसको वो बैद की नोक से लड़के के अला तनासुल को इधर उधर इलाते हुए उर्दू में बोला खा नहीं जाएगा डर मत डॉक्टरी के बाद उनको इसी तरह उरिया खड़े रखा गया जबकि दो घंटे तक एक हकूमती अहलकार उनके मुख्तफ कवायद दर्ज करता रहा साथ ही उनके वालदेन की मलकियत की तफसील बमा रजिस्ट्री व खसरा नंबर लिखे गए और तंबी की गई कि अगर लड़के अगले रोज़ फलां फलां जगह पर हाजिर ना हुए तो कानून के मुताबिक जायदादें जब्त कर ली जाएंगी अंग्रेज अफसर बर्जिस पहने अपना बैद हाथ में लहराकर उर्दू बोल बोल कर गाँव के लोगों को धमकियाँ दे रहा था भाग गए छुप गए हरामी तुम्हारा गन्ने का खेत आग लगाएगा घर बार मंजी पीढ़ी उठा लेगा निकालो लड़का लोग सरकारी नौकरी में पैसा मिलेगा इनाम और तमगा मिलेगा फिर वो आलम जहाँ अवान से मुखातिब हुआ आलम वो बोला हम तुम्हारे से खुश नहीं है तुमने बोला पचास आदमी और दस घोड़े दोगे इधर बस आठ लड़का लोग निकला साहब बहादुर आलम जहाँ अवान ने सीने पे हाथ रखकर कहा हम वादे के मुताबिक देगा अभी और बहुत जगह हैं हम बंदे पूरे करेगा और दस घोड़े अपने पास से देगा वरना तुम्हारा घोड़ी का मुरबा वापस लेगा अफसर ने धमकी दी पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी याकूबवान उस वक्त सत्रह बरस का था गांव से भर्ती होने वाले आठ लड़कों में जगत सिंह शामिल ना था और याकूब अवान सोच रहा था कि जगू कहाँ जाकर छुपा होगा जब भर्ती वाले चले गए तो जगत सिंह ने आकर बताया कि वो किसी खेत में नहीं बल्कि अपने खलियान में तूड़ी के ढेर के अंदर छुपकर बैठा रहा था उसकी नाक के अंदर तूड़ी के बारीक तीले भर गए थे जिनकी वजह से वो मुसलसल छींके मार रहा था एक रोज़ की मोहलत के बाद जब नौजवान गांव से रुखसत हुए तो माओ ने बहन किए बहनों ने सीने पीटे और गांव की एक एक औरत ने आंसू बहाए याकूब अवान के दिल को कोई बेचैनी ना थी उस वक्त उसे इल्म ना था कि वो तीन साल पे मुहित एक ऐसे सफ़र पे रवाना हो रहा था जिसके ख़ात्मे पर उसकी ज़िंदगी का रुख बदल चुका होगा अब अट्ठावन साल बुढ़े को आखिरी लम्हों में अपनी जवानी का वक्त याद आया जो ये सब मनाजिर अपने दामन में समेटे चश्मे जदन में उसकी आंखों के सामने से गुजर गया उसका लहू जो उसके पाँव को हमेशा के लिए खैर बात कहकर कमर तक आ चुका था एक लहजे के लिए छलका मगर दूर तक मार ना कर सका याकूब अमा ने आँखें मींच लीं आगे बहुत से नज़ारे एक के बाद एक दौड़ते भागते हुए गुजर गए फौज की मशकें बहरी जहाज़ का सफ़र डब्बों का जमा हुआ मज़ेदार मीठा दूध अजनबी मुल्क के मैदान जंग बारूद की बू और दिमाग फाड़ने वाले धमाके खंदकें सर्दी खून खून और कीचड़ और सर्दी सालों साल चलता हुआ ये सिलसिला एक लम्हे के अंदर सुकड़ कर एक और खंदक के मंजर पे जा रुका ये याकूब अवान और उसके साथियों की आखिरी खंदक थी इस खंदक में रात के 12 बजे दुश्मन की ताक में बैठे बैठे उसकी जान हलक में आकर फंस गई थी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई चंद ही सेकंड की तगो दो के बाद याकूब अवान हार कर जी छोड़ बैठा कीचड़ की दलदल में गिरता फिसलता मौत के खतरे से बेनियाज होकर वो खंदक से निकला और पीछे की जानब भाग खड़ा हुआ अभी चंद कदम ही चला होगा कि टांगें जवाब दे गईं सीना ऐसे था जैसे मुंह बोझ तले दबा हुआ हो और अंदर कुचली हुई सांस होके होके ख़त्म होती चली जा रही थी आंखों के आगे रात की स्याही में पीले और सुर्ख रंग की फुलझड़ियाँ छूट रही थीं किसी के खेत की गीली मट्टी पे चित लेटे एक अजनबी आसमान को ठहरी हुई नज़रों से देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसने सोचा कि ना बदन पे जख्म आया ना खून निकला और मौत ने आकर उसका सीना दबोच लिया है हाय माँ उसने फरियाद की जब वो होश में आया तो उसी तरह चित लेटा था और एक वसी और सफ़ेदी उसकी आंखों के सामने फैली थी उसके जहन की हालत ऐसी थी कि जैसे एक सफ़ेद बेदाग सरजमीन हो जिस पे याद का नामो निशान ना हो और उमर का कोई सुराग ना मिलता हो कई लम्हों तक वो इसी तरह सोच में रहा कि वो कौन है और कहाँ पर है उसका ख्याल एक मुकाम पे मौलिक था जिस शह ने आखिर उसकी सोच को ठोका दिया वो उसकी सांस थी जो उसके सीने में फंसी थी यूं महसूस होता था जैसे एक लंबी सी कांटेदार शाख तंग से सुराख में से घसीटी जा रही हो सांस की आमदोरफ्त जो अनदेखी और अनजानी सूरत में रवा रहती थी अब दर्द का कारोबार बन चुकी थी जो फेफड़ों को छलनी किए जाती थी आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद ओत कर आई और उस खेत की गीली मट्टी को उसने अपने हाथों पे महसूस किया जहाँ लेटे लेटे स्या आसमान पे उसने अपनी मौत के नक्शे की झलक देखी थी उसकी आंखों के आगे सफ़ेदी हस्पताल के छत की थी और सीने का दर्द वो रोग था जो उसकी जान के साथ उम्र भर रहने वाला था नीम बेहोशी की हालत में ही उसे फील्ड अस्पताल से बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था उसे इल्म हुआ कि वो और उसके साथ लेटे हुए बीसियों लोग दुश्मन की जहरीली गैस के हमले का शिकार हुए थे जिसमें ना बू थी ना रंग मगर जो सांस की नाली में पत्थर बनकर बैठ गई थी कई महीनों के इलाज के बाद उसे चंद रुपयों की पेंशन पर घर भेज दिया गया गांव से जाने वाले आठ लड़कों में याकूब अवान अकेला बचकर आया था उसकी आमद पर दूसरे सात मरने और जंग में लापता होने वालों के कुनबों ने उसके सर पर हाथ फेरने के बाद असरनो मातम किया था याकूब अमान का सीना इस दर्जा कमज़ोर हो चुका था कि काश्तकारी की मुशक्क़त के काबिल ना रहा था और दिन रात खांसी के शदीद झटकों की वजह से सांस धूंकने की सदा पैदा करती थी खुशकिस्मती से अयूब अमान की जान में दम खम मौजूद था और जब तक रहा उसने बेटे को हथेलियों पर उठाए रखा गांव वापस पहुंचकर याकूब अमान ने सबसे पहले जगत सिंह का पता किया करीबुल मर्ग पुतलियों के सामने अब उस रात का मंजर आता है जब भगत सिंह ने याकूब अमान को उसके दोस्त जगत सिंह का किस्सा सुनाया था सर्दियों की रात थी याकूब अवान कंबल ओढ़े होके भरते हुए सीने को संभाले भगत सिंह के दलान में चारपाई पे बैठा था जग्गू खरमस था भगत सिंह बोला हमने कहा कि कलवंती को निकाल कर ले जा और अम्बाले भाई जोगिंदर सिंह के पास चला जा मगर वो कबीरे से ना निकला तू तो लाम पर चला गया था याकूब अवान तेरे पीछे एक साल के अंदर जग्गू ने ऐसी काठी निकाली कि कीकर के दरख्त में उसका सर छुपता था पर उसकी अकल पैरों में उतर आई थी वारदात से दो दिन पहले उसने अपने धान के खेत को जला दिया वो कैसे भैया जी मैं इसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ अब तू बैठा है कि मेरी नज़र में धुएं की एक लाट आई जो आसमान को जा रही थी बाहर निकलकर देखा कि अपनी तैयार मुंजी धड़ धड़ जल रही है सारे गांव ने बाल्टियां भर भर के पानी फेंका तो एक कोना ही ठंडा हुआ अंदर से जग्गू कलवंती की बाँ पकड़े हुए निकल के बाहर आया फिर भाई जी फिर क्या होना था सारा खेत आग में जलकर कोयला हो गया ज़मीन की मट्टी तक काली हो गई थी वो तो खैर हुई कि इधर उधर के खेत खाली थे वो आग पकड़ लेते तो गांव पे फाके आ जाते तुझे पता है कि हम तो सबसे पहले ब्याई करते हैं हमारी नई फसल सबसे पहले तैयार होती है और भाऊ ऊंचा लगता है जग्गू ने सब गर्क कर दिया मैंने पूछा कि तूने ये क्या कसब किया तो बोला कि भैया मैंने तो उसका मुंह देखने को तीली जलाई थी गुरु की मार मुंह देखने की क्या जरूरत थी खरमस्त का बच्चा बोला भैया तुझे इन बातों की क्या समझ समझ क्यों नहीं मैंने कहा ब्याह करके लाया हूँ कि नहीं कहने लगा उससे क्या होता है मैं तो कलवंती पर आशिक हूँ मेरा दिल चाह था उसका मुंह देखूं अब तू बता खरमस्त नहीं तो क्या था फिर भैया जब वो दोनों खेत से भाग कर निकले तो आगे आधा गांव खड़ा था पेयन सिंह ने मुंह से कोई बात ना की बस कलवंती का हाथ पकड़कर घर ले गया मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा जग्गू और कलवंती का सबको पता था बात तरीके से लीके में रहती तो काम चलता जाता मगर उस रात को सारे गांव के आगे बेअंत सिंह की पग उतर गई मैंने जग्गू से कहा चल अम्बरसर ही चला जा थोड़े दिन बापे करनैल सिंह के पास गुजारा खर मस्त था किसी की एक ना सुनता था तीसरे दिन सवेरे मैं बाहर निकला तो उसी सड़े हुए खेत में जग्गू और कलवंती दोनों कटे पड़े थे गांव के अंदर किसी बशर ने उनकी आवाज़ भी ना सुनी थी बेअंत सिंह पकड़ा गया हाँ महीना हवालात में मार खाकर घर आया था पक्का निकला कुछ बका नहीं कोई सबूत ना निकला तुझे पता ही है गांव में कौन गवाही देता है फिर भैया फिर क्या है देखता नहीं आज दो साल हो गए हैं पग को बल नहीं दिया नौ पर लगा हूँ जिस दिन हाथ पड़ गया पार कर दूंगा तेरा भी यार था जब तू गया तो जग्गू हर रोज़ तुझे याद करता था मगर दिखाई देता है कि तू लाम से नकारा होकर आया है अब ये मेरा काम है ठीक है गलती जग्गू की थी मैं कहता हूँ मुँह देखने की क्या ज़रूरत थी हाँ भैया क्या ज़रूरत थी मगर बदला तो बदला है यकूबवान हाँ भैया रात इस कदर सर थी कि दरख्तों की कोख चटाक पटाक हो रही थी और कोहरा पहरों तले कड़कड़ाता था किसान आलुओं की फसल को केसों तरपालों से ढांप रहे थे याकूब अवान कंबल लपेटे कपाता हुआ गांव के अंदर खड़ा उस खेत को देख रहा था जहां कभी धान की एक भरी फसल जगत सिंह के इश्क की आग में जलकर राख हो गई थी उस खेत में अब कमाद की फसल खड़ी थी देर तक वो वहाँ खड़ा बिड़बिड़ करती आग के तस्वुर को दिमाग में लिए जगत सिंह के खुश दिल चेहरे को तलाश करता रहा जो अब हमेशा के लिए फरार हो चुका था फिर अचानक उसी खांसी का एक कुश दौरा पड़ा और वो वहाँ से लौट आया फिर ज़माने निकल गए एक तेज़ रफ्तार सफ़र के नज़ारों जैसी धुंध सर्दियों की शामों का धुआं गर्मियों की धूप के गुबार बेअंत सिंह का दिन दिहाड़े कत्ल भगत सिंह की कैद सात साल के बाद रिहाई और उसकी पगड़ी का नवेलापन मौसमों के तगैर या कुबवान के छलनी फेफड़ों की जलन काश्तकारी में उसके हाथ पांव की बेकारी अयूब अवान की मेहनत बारह बरस का अरसा एक लहजे की गर्द में उड़ गया इन सारे सालों में याकूब अवान बाकायदगी के साथ हर रोज़ सुबह सवेरे अपने खेतों को जाता और शाम को वापस आता खेतों पर वो कभी यहाँ और कभी वहाँ उखड़ू बैठा बाप को दिन रात ज़मीन से खुराक पैदा करने की मशक्क़त करते हुए देखता रहता जहरीली गैस से उसका सीना भर चुका था और उसके सामने याकूब अवान ने जी छोड़ दिया था साल दर साल ज़िंदगी की इसी नाचाकी के अंदर गुजर गए उसकी माँ अपनी बहू की ख्वाहिश करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई इलाके में उनकी रिश्तेदारी दूर दूर की थी और मुनासिब और मैसर लड़कियों की तादाद कम थी जो दस्तियाब थी उनके वारिस याकूब अवान की कमज़ोर सेहत के पेश नज़र रिश्ता देने पर रजामंद ना थे एक बार याकूब अवान भगत सिंह के हमरा उसके ससुराल डटी वाले गया तो राजपूत मुसलमानों के घर की एक शरीरी लड़की से उसकी आंख लड़ गई छाती के जहर के बावजूद जवानी में याकूब अवान जब अपनी सुर गैलसों वाली खाकी रंग की फौजी पतलून और पॉलिश से चमकाए हुए काले बूट और जराबे पहनता और खाकी कमीज पर जंगी सर्विस की फीतियां लगाता तो गांव के माहौल में उस पर बांकपन का एक अंदाज निकलता था अयूब अवान अपनी गर्ज लेकर डड्डी वाले गया तो मुराद लौटा आखिर जब याकूब अवान चौंतीस बरस का हो गया और अयूब अवान की बिनाई जवाब देने लगी तो उसने अपने बेटे से कहा लड़की तेरे साथ निकल आएगी निकाल के ले आ अब्बा तू कामकाज के लायक तो नहीं पर घोड़े की सवारी तो कर सकता है ना हाँ अब्बा और बंदूक भी चला लेता है हाँ अबा तो फिर जा अयूब अवान बोला देखा जाएगा अब वो बुझती हुई आंखें दिए की लाट की तरह छिपाके मार के एक लहजे के लिए चमक उठी और उस लहजे में वो मंज़र सिमट आया जब ज़मीन पे इस कदर तारीकी छाई थी कि बंदा किसी शजर के साय से भी हल्का नज़र आता था रंगीली की जवान बेटी चमीली ने बीस मील का सफ़र एक घंटे के अंदर उस रवानी से तय किया गोया दिन दहाड़े भाग रही हो याकूब अमां ने महसूस किया जैसे चंबेली को इस बात का इल्म हो कि यह सफ़र राज और रफ्तार की मुहिम थी उसका खुर एक कंकर पे ना अटका था और टापों की आवाज़ ऐसी हल्की कि जैसे रुई के गालों पे चल रही हो चम्बेली को उसने अपने हाथों में पाली थी मगर इस रात पहली बार याकूब अवान को पता चला कि खसलत वाला असील जानवर कैसे अपने मालिक के जिसम से उसके ख्याल की पहचान करता है अब डूबती आंखों में याद के एक लम्हे के अंदर सिर्फ दो मंजर सबसे आगे खड़े थे एक चमेली की रफ्तार और दूसरा जैनब का फरार हज़ार रातों की हम मिस्त्री की याद उसके दिल में एक धुंधलके की शक्ल में थी मगर इन खिलवतों की कोई हकीकत ना थी सिर्फ खुले आसमान के नीचे उस अवलिन खिलवत की असलियत उसकी आंखों के सामने रह गई थी सफ़ेदे के नौ उम्र पेड़ का सा जैनब का लचकदार बदन जब अपनी कच्ची दीवार टाप कर याकूब अवान के पीछे चम्बेली की पुष्ट पर आ जमा था और घोड़ी की पसलियों के गिर्द अपनी रानों की गिरफ्त को तंग करके जैनब ने याकूब अवान की कमर को अपने बाजुओं के हल्के में लिया था तो तीनों बदनों की यकसोई का एक ऐसा अटल मंजर था जैसे पत्थर से काट कर अपने मकाम पे नसब कर दिया गया हो और कभी अपनी जड़ों से ना हिला हो अपने दरवाजे पे पहुंचकर चंबेली रात भर में पहली बार आई थी जैसे अपने सफ़र के खात्मे पर नहीं बल्कि मालिक की कामयाबी पर खुशी का इजहार कर रही हो सेहन की दीवार के अंदर अयूब अवान दो नाली बंदूक में कारतूस भरे ताक लगाए बैठा था ये ले वो बेटे को बंदूक थमाते हुए बोला मेरी नज़र काम नहीं करती तू इसे संभाल और खुद जाकर अंदर से टोका उठा लाया था दोनों बाप बेटा दीवार के साथ खड़ी बांस की सीढ़ी के पास रात भर चौकस बैठे रहे दिन चढ़े जब जैनब के वारिस हथियारों से लैस होकर हवाई फायर करते हुए पहुंचे तो गांव वालों को वाक्य का इल्म हो चुका था कबीरे के सिख अगले गांव दस्तगीर चक के मुसलमान राजपूतों के बड़े बूढ़ों को साथ लिए बैठे इंतज़ार में थे उन्होंने हमला आवरों को रोका मिन्नतें समाजते करके उन्हें थाम के रखा और तस्वीर पर रागब करने की कोशिशें शुरू कर दी इसी दौरान में अयूब भवान ने अपने बेटे के हाथ से बंदूक छीनकर दो हवाई फायर कर दिए नंबरदारों की एक पार्टी उसके पास भी पहुंच गई जैनब के वारसीन को समझाया गया कि लड़की निकल आई है अब बेहतरी इसी में है कि इसका निकाह कर दिया जाए आखिर लंबी चौड़ी बातचीत के बाद तस्फिया इस पे हुआ कि जैनब को उनके हवाले कर दिया जाए और निकाह की तारीख मुकर करके मामले को शरय हैसियत दे दी जाए जैनब के वारिस को सिखों के गढ़ में रहने वाले मुसलमान राजपूतों और नस्लों से अपनी हैसियत की हिफाजत करने वाले बहादुर आदमी थे जैनब के वारिस गो सिखों के गढ़ में रहने वाले मुसलमान राजपूत और नस्लों से अपनी हैसियत की हिफाजत करने वाले बहादुर आदमी थे मगर शरीफ लोग थे मान गए आगे के एक लम्हे ने एक साल को अबूर किया और याकूब अवान के पलोठी के बेटे एजाज अवान की पैदाइश पे जाकर रुका इस वक्त गर्दन मोड़ने की याकूब अवान में सकत ना थी मगर आंखें घुमाकर उसने अपने बेटे को देखा जो उसका हाथ पकड़े चारपाई से लगकर बैठा था जैसे बाप को रोक कर रखना चाहता हो इस एक लहजे में याकूब अवान ने अपने बाप अयूब अवान को एक कोना जड़ वाले घने दरख्त की मानिन जमाने की हवा के आगे गिरते और जहाने फानी से कूच करते अपने बेटे एजाज जवान को बचपन और लड़कपन की हदूद से निकलकर नोखेज जवान बनते और काश्तकारी से हटकर तालीम की जानब रागब होते अपनी ज़मीन को ठेके पर चढ़ते और एक ही औलाद के बाद जैनक की कोख को आहिस्ता आहिस्ता सूखते हुए देखा अब उन आंखों में झपकने की ताकत भी ज़ायल होती जा रही थी अगली सात में जो नक्शा नज़रों के आगे आकर ठहरा उसमें एक ज़माना खेज वक्त की उलट पुलट का समा था मुल्क के बंटवारे का मौका आन पहुंचा था साल चढ़ा तो अफवाहें फैलनी शुरू हुई कि आबादी की अदल बदल शुरू हो चुकी है फिर फसाद और मार धाड़ की कहानियाँ कानों तक पहुँचने लगीं कबीर सिंह वाला में अगरचे मुसलमानों का एक ही घराना था और उसमें भी अब फ़कत तीन फ़र्द रह गए थे मगर जद्दी पुश्ती रिहाइश के मुकाम पर इन चीज़ों की कोई अहमियत ना थी याकूब अवान को एक पल के लिए भी उस बात का गुमान ना हुआ कि वो नकल मकानी करे यहाँ तक के जलसे जलूस और नारे अमृतसर के शहर से निकलकर नवा के गांव और कस्बों में सराहियत कर आए फिर पक्की सड़कों पर हिजरत करते हुए बदहाल काफिले मशरक़ से मगरब और मगरब से मशरक़ को आते हुए नज़र आने शुरू हुए औरतों बच्चों की चीखों पुकार और इंसानी खून के नज़ारों ने हवा का रुख बदल दिया इस हवा ने आग के शोले भड़काए जो खून और आहो बका के तूफान में शामिल हो गए आदमी की सरिश्त में छुपी हुई दीवानगी इस तरह ज़मीन पर फैली कि इंसान और हैवान दोनों का गुजर मुश्किल हो गया याकूब अवान को याद आया कि उस अजीब वक्त में जानवरों के अंदर एक तब्दीली देखने में आई थी बड़े बड़े खूनखार कुत्ते मुँह जोर घोड़े और अड़ियल मवेशी मुंह उठा के आसमान को देखते और गर्दन मोड़ लेते उनकी बेजुबान नज़रों में मुस्तकिल खटका डर आया था और चाल में पहलू तही का अंदाज़ा आ गया था जैसे उन पे आया हो गया हो कि आदमी के अंदर एक जानलेवा बीमारी की वबा फैल गई है और जानवर किसी अनदेखी राह फरार की तलाश में हूँ आदमी को करीब आते देखकर बिदक जाते और आंखों में सहम लिए परे सिरकने लगते एक ऐसा वक्त आया कि गोया उन बेजबानों ने अपनी छठी हिस्से इस इंसानी उफ्ताद की पहचान कर ली और जबानदारों की बिरादरी को अछूत करार दे दिया आखिर वो दिन भी आया जब भगत सिंह ने आकर कहा फसादी हमारे घर तक आ पहुँचे हैं उठ के हमारे डेरे पर आ जाओ याकूब अवान की छाती कमज़ोर थी मगर वो अपने बाप के खून की बहादुरी से आरी नहीं था कारतूसों की पेटी पर हाथ मारकर बोला जब तक ये खाली नहीं हो जाती मैं अपनी ज़मीन से पैर नहीं उठाऊंगा मगर अगले रोज़ भगत सिंह उसके चचा और भाई याकूब अवान के घर पे कबीरे में तेरा एक ही घर है जसवंत सिंह बोला सबकी नज़र में है अपनी औरत की हालत देख जिद ना कर हमारे साथ चल याकूब भवान को पहली बार इन हालात में अपनी बीवी का ख्याल आया जैनब के बदन में एक मोजा रोनुमा हो चुका था पंद्रह बरस की खुश्क साली के बाद अचानक उसकी कोख हरी हो गई थी आठ माह के अरसे से उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था सैंतीस बरस की उम्र में उसे हमल ठहरा था और जिल्द के अंदर पानी के रुकाव की वजह से उसके हाथ पांव फूल गए थे पैदाइश की घड़ी करीब आ रही थी और सूरत ये थी कि वो पल के पल को उठकर कामकाज करती और फिर चार पाई पर ढेर हो जाती याकूब अवान की ज़िंदगी की यह खुशी अभी परवान भी ना चढ़ी थी कि फसाद का झगड़ा उनके सिरों पर चलना शुरू हो गया था जान और माल की हिफाजत के झगड़े में जैनब की फ़िक्र उसके जहन से करीब करीब उतर चुकी थी ज़माना बदल गया है यकूब अर्जन सिंह ने कहा अड़गिल ना बन आँख खोल कर देख अपने ही गांव के हराम खोर फसादियों से मिल गए हैं चल उठ खून खराबा ना करा आदमी की रियायत मिल गई है मगर खून खराबे की ना मिली यकूब भवान जैनब और एजाज को लेकर घर से निकला था कि बलवाइयों की हाहाकार सुनाई देने लगी अभी अवानों का काफिला भगत सिंह के डेरे पे आकर बैठा ही था कि पीछे धुएं में लिपटे आग के शोले बुलंद होने लगे तवेले से भैंस और बछड़ी के डकराने की अजियतनाक आवाज़ें निकली और उठते उठते ऐसे शोर की सूरत में बदल गईं जो पंद्रह साल एजाज ने पहले कभी ना सुना था मवेशियों की चीखें सारे गांव पे छा गईं याकूब अवान भागकर अपने घर को पहुंचने के लिए जोर मार रहा था मगर भगत सिंह और उसके चचा की गिरफ्त उसे हिलने न देती थी आखिर वो हार कर वहीं खड़ा वीरान नज़रों से जलते हुए घर को देखने लगा अब जलते हुए गोश्त की बू गांव में फैलती जा रही थी इतने में उन्हें गली के अंदर घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी एजाज ने टापों से पहचान लिया कि ये जोरावर था चम्बेली का बेटा याकूब भवान के हाथों में उस रात पैदा हुआ था जिस रात को चंबेली ने उसे जनते हुए अपनी जान दे दी थी किसी को उम्मीद न थी कि यह बच्चा जान में रहेगा याकूब भवान ने उसे अपनी भैंस नीली की बछड़ी के हमरा नीली के दूध पर लगा दिया था नीली की मामता ने दो दिन के अंदर उस यतीम बच्चे की ज़बान को अपने थन पर रख लिया था जब महीने भर के बाद ही बच्चा सहन में किलकारियाँ भरने लगा तो उसका नाम जोरावर रख दिया गया जोरावर ने अपने नाम की लाज रखी ऐसा जोरावर निकला कि एजाज को पीठ पे बैठाए बैठाए एक जिस्त में दीवार फलांग जाता था जोरावर को एजाज ने अपने हाथों में पाला था उसे आते देखकर एजाज की बाछे खिल गई वो करीब आया तो एजाज ने उसे अपने मखसूस अंदाज में चमकारा अपनी वहशत में उड़ते उड़ते जोरावर ने आवाज़ पहचान ली और चारों पांव जमीन में गाड़ दिए एजाज उसकी रस्सी पकड़कर भगत सिंह के अहाते में ले आया जहां टैन लटकी थी उस वक्त उसकी नज़र जोरावर के पेट पर पड़ी हिलम के एक वार से फल पेट के आर पार हो गया था और दोनों घावों से खून की धारें बह रही थीं जोरावर की टांगों में खफीफ सी कपकपाहट थी जो उसकी सारी जिल पे फैलती जा रही थी उसकी गर्दन सर का बोझ सहारने से आरी हो चली थी और मुंह हर पल जमीन के करीब होता जा रहा था इस तरह गर्दन लटकाए जोर आवर चंद मिनट तक खड़ा रहा फिर उसकी टांगे जवाब दे गईं वह ज़मीन पे गिरा और अपने खून के कीचड़ में पहलू के बल लेटकर बेहरकत हो गया सिर्फ उसकी आंखों में अभी जान बाकी थी उसके पहलू के जख्म से खून का बहाव अब कम हो चला था और जिल के सुराख से एक कटी हुई अंतड़ी का सिरा नजर आ रहा था याकूब अवान मुंह मोड़कर खड़ा हो गया एजाज उस वक्त तक जोरावर को देखता रहा जब तक उसकी आंखों में मर्दनी ना छा गई फिर उसका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और धाड़े मारकर रोने लगा बलवाई दरवाजे तक आ पहुंचे थे एक दो के हाथ में जलती हुई मशलें थी भगत से एक आवाज़ आई तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं तू अपना भाई है मुसलों को अपने हवाले कर दे अंदर से कोई जवाब ना दिया गया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी गई थी और अहाते की तीनों दीवारों के साथ भगत सिंह उसका भाई सुंदर सिंह और चचा अर्जुन सिंह बंदूकें उठाए पहरे पर खड़े थे अर्जुने एक बुढ़े की आवाज़ आई आपा तेरे दरवाजे पे खड़े नहीं रहेंगे उन्हों को बाहर निकाल दे याकूब अवान अपनी बंदूक उठाकर दरवाजे की जानब दौड़ पड़ा भगत सिंह ने रस्ते में ही उसे दबोच लिया और उसे कंधे से पकड़कर वापस खींच लाया बुढ़े बलवाई के जवाब में अर्जुन सिंह ने दो हवाई फायर किए बलवाई पीछे हटकर एक हल्के में ज़मीन पर बैठ गए दारू का दौर चलने लगा वक्फे वक्फे पर कोई एक उठकर आगे बढ़ता मशल को उठाकर वाहे गुरु का नारा लगाता फिर वापस जाकर बैठ जाता रात पर भगत सिंह का हाथ याकूब अवान के कंधे से ना उठा तू जग्गू का यार है यकूब और चाचे जूब का बेटा है भगत सिंह ने उससे कहा अपने ऊपर तेरा हक है मेरे हाथ कट जाएंगे तो फिर तेरे ऊपर कोई वार होगा बेफिक्र होकर बैठा रह जू भवान की क्या बात थी अर्जुन सिंह ने बात शुरू की देर की बात है जू भवान ने और मैंने वारदात की माल खोला मेरी गलती से खड़का हो गया तो मालिक जाग उठे मगर जूब ने और मैंने मिलकर उन्हें ढेर कर दिया मुझे पेट में ज़ख्म आ गया था जूब भगवान ने सारी रात मेरी रखवाली की और सवेर होने से पहले मुझे पीठ पे उठाकर घर ले गया वारदात किधर को की थी बापे सुंदर सिंह ने पूछा याद नहीं रहा आठ दस कोस का फासला था मैं जू भगवान की पीठ पर था और माल की रस्सी उसके दांतों में थी मैंने उससे कहा ये अड़ियल माल है जूबे उससे खुलासी कर अपनी जान बचा के चला चल कहने लगा भाइया इस माल के बदले तेरा खून निकला है इसे कभी ना छोड़ूंगा अर्जुन सिंह हंसा क्या ज़माना था बाँव में ज़ोर था और आँख में शर्म होती थी अब कुछ भी नहीं रहा मेरी तो अकल मारी गई है रात निकलती जा रही थी और मस्ती में मदहोश बलवाइयों का नलका टूटने की बजाय तंग होता चला जा रहा था आखिर सिखों के इस कुनबे ने आपस में मशवरा करके अवानों को अंदर ही अंदर से निकालने की स्कीम बनाई याकूब अवान का जहन मअतल हो चुका था उसने खामोशी से बात सुनी और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ एजाज ने रवाना होने से पहले एक बार जोर आवर के मुर्दा जिसम के पास जाकर उसकी गर्दन पर प्यार का हाथ फेरा और वापस आ गया जैनब और उसका सारा सामान तैयार किया गया जो एक गठड़ी पर मुश्तमिल था जिसमें कुछ कपड़े और दो एक गहने थे एजाज अगरचे मैट्रिक का इम्तहान दे चुका था मगर अपने घर से चलते वक्त उसने गठड़ी में दो तीन किताबें ठूंस ली थी इसके अलावा उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी जिसे साथ ले जाने पर वो मिसर था ये मुख्तसर सा काफला कोठों कोठों पे चलता दीवारें नापता लकड़ी के तख्तों की मदद से गलियां अबूर करता हुआ गांव के अंदर तक जा पहुंचा वहां एक गली में दो घोड़े तैयार खड़े थे एक की जीन पे जैनब जमकर बैठ गई याकूब अवान ने बंदूक गले में लटकाई और जैनब के पीछे चढ़ बैठा जब तक उसने हाथ आगे निकालकर घोड़े की लगाम ना पकड़ ली उसे यकीन ना आया कि वो अपने गांव से जा रहा है तेरा घर गिराकर अपने सामने बनवाऊंगा जकू भवान भगत सिंह ने उससे कहा दो चार दिन की बात है फिक्र न कर तू उल्टे पैर आएगा एजाज ने अपनी साइकिल के अंदर बाजू डालकर उसे पुश्त पर जमाया और एक आदमी की मदद से जीन पर चढ़ बैठा घोड़े सुरिंदर सिंह के पास छोड़ देना भगत सिंह ने कहा उससे कहना उनको दाना पत्थर डाल दे और हाँ कहना कि उसके साथ ऊपर कोई वारदात हो तो खबर कर दे चल अब जा उसने घोड़े को थपकी दी चल जवाना भाई गुरु की फतेह दिन चढ़ने में अभी एक घंटा बाकी था कि अवानों का कुनबा अपने गांव की हदूद से निकल गया सूरज एक हाथ ऊपर आ चुका था जब वो जैनब के बाप के घर पहुंचे दिन भर जैनब अपने हमल को संभालती फिरती रही जो काबू से बाहर हुआ जाता था उसके बदन की बोटी बोटी पर मौत की कैफियत तारी थी डड्डी वाले की दाई उसके पास बैठी रही शाम के वक्त उसकी हालत गैर हो गई चार कोस दूर नूरपुर का कस्बा था जहाँ की डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर मौजूद था जब तक जैनब का भाई अपने रेड़े पर डॉक्टर को लेकर आया जैनब एक बेटे को जन्म दे चुकी थी बच्चा तंदुरुस्त हालत में था मगर जच्चा की हालत ना संभली घर भर की नई पुरानी चादरें भीग गईं और उसका खून फिर भी न थमा डॉक्टर ने खून बंद करने की सही की टीका लगाया दवाइयाँ दी मगर जैनब की ताकत जायल हो चुकी थी अपने खामिन का घर छोड़ने के 32 घंटे के बाद बेहोशी की हालत में जैनब के बदन से उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस खारिज हो गई याकूब अवान के मोतल दिमाग को दिल की हलचल की मध्यम सी खबर हुई जैसे दूर कोई दिया टिमटिमाता हो कोई आध घंटा सकूत में रहने के बाद वो यकायक उठा बाजू लहराते और मुंह से झाग उड़ाते हुए उसने चीख चीख कर जैनब के सोगवार ख़ानदान को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली फिर वो आकर जैनब के बेजान जिसम के साथ लिपट गया चारपाई पर बिछा हुआ खेस जैनब के खून पसीने और फजले की आलाइश से गीला हो रहा था मगर यकूब अवान की नज़रें सिर्फ जैनब पर लगी थी वो इस मुर्दा जिसम को अपने बाजुओं और टांगों के हल्के में लिए देर तक उसे हलकोरे देता रहा जैसे उसको आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो फिर वो उसे अपने साथ लगाए लगाए सो गया गोया रोज़मर्रा की बात हो जब उसकी आंख खुली तो दरवाज़ा पीटा जा रहा था वो लाश को सीने से चिमटाए चारपाई पर लेटा रहा जब दरवाज़ा टूटने के करीब पहुंचा तो उसने उठकर कुंडी उतार दी बाहर गांव का गांव उमड़ आया था यकूब अवान हल्के पैरों चलता हुआ हजूम के बीच से गुजरकर सहन में आ बैठा अगस्त की सुबह का सूरज उसकी जिल को जला रहा था इस हिद्दत में उसका उबलता हुआ जहन एक नुक्ते पर मरकूज था आज ज़िंदगी के अख्ताम पर भी इन बूढ़ी नीमदा आंखों में जैनब के सिर्फ दो रुख कायम थे एक अंधेरी रात में उसके फरार का मंजर और फिर सालों बाद अपने बाप के घर में चारपाई पे पड़ा वो तीखे नकूश वाला जर्द रूह चेहरा जो इस बुझते हुए दिमाग के धुंधलके में एक सितारे की मानिंद चमक रहा था उम्र भर के इख्तलात के बाद याकूब अवान को सिर्फ वो रात याद रही थी जब उस बेदखल जिसम को अपने हाथ पांव की आगोश में लिए उसमें अपनी जान का कोई हिस्सा डालने की सही करता रहा था अब उसके आगे नीम अंधेरे का लम्हा लौट के आया जिसके अंदर मुतद साल फराटे भरते हुए गुजर रहे थे नौ मौलूद बच्चे को जैनब की छोटी बहन अपने पास ले गई उसकी पैदाइश के अगले रोज़ मुल्क का बंटवारा तकमील को पहुंचा। यकूब अवान के दिल में मोहब्बत का जज्बा जवाल पा गया था गो कुर्बानी का जज्बा बरकरार रहा सरफराज को वो ऐसी शफकत ना दे सका जैसी एजाज को दी थी मगर उसकी परवरिश उसने बड़े ध्यान से की जब सरफराज तीन साल का हुआ तो याकूब अवान उसे अपने पास ले आया और अपने हाथों में उसे पालने लगा बंटवारे के तीन ही माह के बाद जब उसके दिल में यकीन हो गया कि बीस मील दूर उसका आबाई गांव एक दूसरा मुल्क था जहां उसका वापस जाना नामुमकिन हो चुका था याकूब अवान ने कदम जमाने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी थी छः माह के अंदर उसे नूरपुर के करीब मौजू शुजाबाद में साढ़े बारह एकड़ ज़मीन और एक टूटा फूटा घर अलॉट हो गया था उसकी छाती पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी ज़मीन उसने ठेके पर दी थी मगर एक साल के बाद ही जब एजाज ने शहर के कॉलेज में दाखिला लेने की ज़िद की तो आधी ज़मीन रहन रख कर अखराज पूरे करने पड़े अगला साल गुजरने पर याकूब अवान ने अपने तीन साल बेटे सरफराज को अपने घर लेकर आने की ज़िद की अब वो और एजाज मिलजुल कर अपनी रोटी हांडी करने के काबिल हो चुके थे फिर उससे अगले साल जब एजाज ने एफ ए पास कर लिया तो उसकी ज़िद के बावजूद याकूब अवान ने बाकी की आधी ज़मीन भी रहन करके एजाज की शादी उसकी मासी की बेटी सकीना से कर दी अब उनका घर बस गया था मगर आमदनी बंद हो गई थी एजाज अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो गया स्कूल दो साल के अंदर मिडल के दर्जे तक बढ़ा दिया गया और एजाज ऊंची जमातों को पढ़ाने लग गया अब उसकी तनख्वाह से गुजारे के अलावा बचत भी होने लगी थी मगर सरफराज जो उसी स्कूल में दाखिल हो चुका था अभी तीसरी जमात में था कि याकूब अवान की छाती बैठ गई गोया इस बरसों की शिकस्ता इमारत की छत बिलाखिर मुनहदिम हो गई हो अब जानकुनी का आखिरी लम्हा आ पहुंचा था इस लम्हे में अब याकूब अवान की आंखों में ना जैनब रही थी ना एजाज और ना सरफराज अब उसकी नज़रों के सामने सिर्फ अपने गांव कबीर सिंह वाला का जनूबी मंजर रह गया था जो उसने चार साल पहले आखिरी बार रात के अंधेरे में देखा था याकूब अवान किसी काम के सिलसिले में जिला कचहरी से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे सिखों का एक छोटा सा ग्रोह दिखाई दिया जो सड़क के किनारे रुककर एक होटल से अपनी प्यास बुझा रहे थे याकूब अवान बेख्तियार उनकी जानब खिंचा गया होटल के बाहर शुदा टूंटी से उसने पानी का घूट पिया और फारिग होकर सिखों के इर्द गिर्द मंडलाने लगा फिर किसी बहाने उसने उनसे बातचीत शुरू कर दी ये जत्था मजहबी मकामात की ज्यारत के लिए पाकिस्तान आया था याकूब अवान उनके पास बेंच पर बैठ गया कबीरे का खशवंत सिंह मेरी ताई का रिश्तेदार है एक सिख याकूब अवान की बात सुनकर बोला आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आप एक पैगाम कबीरे के भगत सिंह तक पहुंचा दें ज़रूर जी ज़रूर महाराज कोई खिदमत बताएं उससे कहें कि हाथ पड़े तो आकर मिल जाए वक्त का क्या पता है बिल्कुल दुरुस्त कहा वक्त का किसे पता होता है बस जाते ही संदेशा भिजवा दूंगा आप फिक्र ना करें आपकी बड़ी कृपा भाई जी तीन महीने निकल गए याकूब भगवान इस बात को भूल चुका था कि एक रोज़ आधी रात के वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई घर से बाहर आने पर उसका सामना दो आदमियों से हुआ जो मुंह और सर काली चादरों में लपेटे तारीकी में खड़े थे यकूब अवान एक ने सवाल किया याकूब अवान को महसूस हुआ कि ये आवाज़ और ये लहजा अगर वो हज़ार आदमियों के शोर में भी सुनता तो पहचान जाता भैया भगत सिंह वो चिल्लाकर बोला चुप कर कटवाने की सलाह है चल अंदर भगत सिंह के हमरा उसका एक चाकर बलवंत सिंह था बलवंता इधर ही से गया हुआ है तेरे जाने के बाद आया है फिर वो बलवंत सिंह से बोला यकूब भवान अपने जग्गू का यार था यकूब भवान को भगत सिंह के ब्याह का दिन याद आया जब भगत सिंह दूल्हा बना घोड़ी पे सवार किसी रियासत का राजकुमार मालूम होता था अब उसकी दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद और बदन फरबा हो चुका था जैनब किधर है उसने पूछा वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई यकूब अवान ने बताया चल परमात्मा को ऐसा ही मंजूर था किसका जोर चलता है सबका चल चलाओ है याद है जिस रात को तू जैनब को उठा के लाया था सुबह सवेरे जब उसके वारिस पीछे आए तो सारा दिन हम उनके पैर पकड़ते रहे थे मज़े तूने किए और पैर हमने पकड़े हैं वो याकूब अवान की पीठ पर हाथ मारकर बोला याकूब अवान को खांसी का दौरा उठा याकूब अवान ने खांसते हुए इस्बात में सर हिलाया जब उसकी खांसी रुकी तो वो मुस्कुरा दिया कई साल के बाद जैनब की याद ने पल के पल को उसके दिल में खून की योरिश पैदा की थी जाज कहाँ है भगत सिंह ने पूछा अपनी बीबी को लेकर मासी को मिलने गया है अगले गांव में स्कूल में मास्टर हो गया है उसका ब्याह भी कर दिया है भगत सिंह ने चारपाई पे सोए हुए चार साल सरफराज की जानब इशारा करके पूछा जाज का है मेरा है जिस रात को हम कबीरे से आए उसी रात को पैदा हुआ था जैनब ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी ना उसने माँ की देखी किसी का जोर नहीं भाइया किसी का जोर नहीं रात के पिछले पहर तक वो तीनों बैठे दूध के प्यालों के साथ दिन की बची हुई रोटियां खाते और बातें करते रहे भगत सिंह ने बताया कि उसका बाप और चचे जसवंत सिंह और अर्जुन सिंह तीनों फौत हो चुके हैं किसी का जोर नहीं पाया किसी का जोर नहीं याकूब अवान ने बार बार दोहरा कर कहा यह बता भैया मेरे घर का पता कैसे निकाला ये सब बलवंते का खेल है इस सारे इलाके को जानता है दो दिन में उसने खोज लगा लिया आने जाने का भी कोई मामला नहीं भगत सिंह ने कहा हम तो आते जाते रहते हैं जसविंदर की माँ डड्डी वाले में गहना दबा गई थी चौथे दिन मैं निकाल कर ले गया था बॉर्डर पर पहरा है पर सारे रास्ते तो हुकूमत वाले बंद नहीं कर सकते आने जाने का कोई मामला नहीं दिन निकलने में दो घंटे रहते थे कि भगत सिंह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ बाहर सहन में निकलकर याकूब अमान ने उससे कहा मेरा दिल करता है भाइया कि कभी जाकर एक नज़र कबीरा देखाऊं अभी चला चल जकूब देर किस बात की है याकूब अमान लहजा भर सोच कर बोला फिर एक बात मान भाइया बोल आज का दिन रुक जा कल जाज आएगा बच्चे को उसके हवाले करके रात को तेरे साथ चला चलूँगा भगत सिंह ने बलवंत सिंह की जानब देखा तेरे चक में हमारा और कोई वाकिफकार नहीं हालात की खबर नहीं होती कोई फिक्र फाका नहीं भाइया सब मेरे ऊपर छोड़ दे याकूब अवान खुश होकर बोला बस ये दुआ कर गांव में कोई वारदात ना हो पुलिस आकर चार चार दिन बैठ जाती है क्यों बलवंते भगत सिंह ने पूछा क्या ख्याल है जैसे मालिक की मर्जी बलवंत सिंह ने कहा इधर चारपाइयाँ तैयार हैं आराम से दोनों सो जाओ याकूब बाबा ने कहा दिन गुजरने का पता नहीं चलेगा ना कोई देखेगा ना भलेगा दोपहर तक जाज भी आ जाएगा याकूब बाबा ने जल्दी से घी और शक्कर मिलाकर बाजरे का आटा गूंदा और रोटियां पकाईं फिर उसने चाय बनाई तीनों ने मिलकर उनका नाश्ता किया फिर याकूब अवान ने नए खेस निकालकर चारपाइयों पर बिछा दिए दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए सो गए याकूब अवान ने सरफराज को सबक पढ़ने के लिए मस्जिद जाने और घर से बाहर कदम रखने से मना कर दिया बच्चा दिन भर अपनी चारपाई पर बैठा मेहमानों की पकड़ियों उनके केसों और दाढ़ी मूछों के बालों को देखता रहा दोपहर के वक्त जाज भी पहुंच गया वो सकीना को दो दिन के वास्ते उसकी माँ के पास छोड़ आया था बाप बेटे ने मिलकर दो मुर्गियाँ ज़िबा कीं एजाज तंदूर से रोटियां ले आया सूरज गरूब होने में कुछ वक्त था जब भगत सिंह उठ बैठा बलवंत सिंह गहरी नींद सो रहा था भगत सिंह ने पैर मारकर उसे उठाया सरफराज समेत सब ने बैठकर खाना खाया एक बात का मुझे ख्याल आया है जकू भगवान भगत सिंह ने कहा बीस कोस का रास्ता है चला चलेगा क्यों नहीं याकूब अवान ने जवाब दिया उम्र चलते चलते गुजरी है मेरे सीने में कमजोरी है पर टांगों ने मुझे कभी जवाब नहीं दिया बैरियल पहुंचकर दिलदार सिंह से घोड़े ले लेंगे भगत सिंह ने कहा अब्बा चाचे अहमद से घोड़े ले आऊं एजाज ने पूछा मरवाने की सलाह है मास्टर साहब अकल की बात करो बॉर्डर तक तो छुप छुपा कर जाना है घोड़ों का काम नहीं पैरों का है भगत सिंह अपने पाँव ठोक कर बोला बैरियल से आगे घोड़े कैसे जाएंगे एजाज ने सवाल किया उस तरफ कोई नहीं पूछता किसी को क्या पता तेरा अब्बा हिंदू है मुसलह है कि ईसाई है हमारे तो गुरु ने केस और दाढ़ियाँ गले में लटका दी हैं दूर से देखकर ही पहचाने जाते हैं कोई फिक्र फाका नहीं भाइया याकूब अबान ने कहा सारी रात चलना पड़े तो पैर जवाब नहीं देंगे काला नमक है भगत सिंह ने पूछा नहीं जाज जाओ दुकान से काला नमक ले आ एजाज काला नमक लेकर आया तो भगत सिंह ने चख कर देखा ठीक है वो बोला और पुड़िया याकूब वान के हाथ में दे दी खांसी आए तो चुटकी भर जबान पर रख लेना तेरे सीने का दौरा हमें जेल खाने न पहुंचा दे तारीकी में हल्के हल्के फुर्तीले कदम धरते हुए आबादियों से कतरा कर निकलते नदी नालों से बचते बचाते हुए तीन बे आवास आए जब बैरियल पहुंचे तो फिर याकूब अवान को इल्म हुआ कि उन्होंने सरहद पार कर ली है वहाँ पर उन्होंने दिलदार सिंह के घर से दूध के प्याले पिए और उसके घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े याकूब अवान की हालत अजीब हो रही थी जैसे जैसे कबीर सिंह वाला करीब आता जा रहा था उसका दिल बदलता जा रहा था उसके इरादे ढीले और हाथ बाग पे कसते जा रहे थे कई बार वो अपने साथियों से पीछे रह गया क्या बात है यकूब भगत सिंह ने पूछा जानवर अड़ियल है नहीं भाइया वो होले से बोला यकूब अवान एक मखमसे में उलझ गया था उसका आधा जी आगे बढ़ने को और आधा जी पीछे लौटकर जाने को कर रहा था उसे अपने एहसास की मर्जी पे एतबार न रहा था और अपनी चाह की कोई खबर न मिल रही थी जब वो गांव के सामने पहुंच गए तो उसने भगत सिंह से कहा भाइया तू ढेरे पर चला जा मैं ज़रा उस तरफ से फेरा लगा कर आता हूँ चल मैं भी चलता हूँ भगत सिंह ने कहा नहीं तू जा मैं अभी आ जाता हूँ जकूब तू मेरी हिफाजत में है मेरा दिल है कि तू लोगों को मेरे डेरे पर चल कर मिले तेरे सामने उनको शर्मसार करूँ फिक्र ना कर भैया आवाज़ नहीं निकालूंगा बस इधर जनूब की तरफ एक चक्कर काट कर आ जाऊँगा उस जनूबी रास्ते से यकूब अवान और उसका कुनबा गांव छोड़कर गया था और यही गांव का वो रुख था जिसकी जानब उसके खेत थे और जिस रास्ते को पचास बरस की उम्र तक उसने हर रोज़ अपने कदमों से मापा था अब ये एक अजनबी रास्ता था अपनी उम्र में वो उसके एक एक घड़े एक एक पत्थर और एक एक मोड़ से वाकिफ था यूं के आंखें बंद करके आ और जा सकता था अब पत्थर अपनी जगह से हिल गए थे और सारे उतार चढ़ाव तब्दील हो चुके थे कदम कदम पर ठोकर का सामान था याकूब अवान एक बार घोड़े पर सवार और दूसरी बार पैदल चलकर गांव की हद तक गया और वापस आया था मगर उसे पता ना चल सका कि यह उसकी भूल थी या महज वहम या कि हकीकत में रास्ता अपने रुख बदल चुका था उसके खेत अलबत्ता अपनी जगह पर मौजूद थे एक खेत में गन्ने की फसल खड़ी थी एक में मकई थी सब्जियों के खेत में गोभी शलगम और मोंगरे तैयार थे कुछ रकबे में कपास खड़ी थी एक इलाका गेहूं की बियाई के लिए खाली पड़ा था याकूब अवान ने एक गन्ने के पौधे पर नरमी से हाथ फेरा गन्ने के खुश्क पत्ते की धार से उसकी उंगली पर हल्का सा चीरा आ गया वो उंगली मुंह में डालकर चूसने लगा मगर चीर से खून ना निकला था बरसों के खुरदरे हाथों पर चंडियाँ बनी हुई थी जिनमें खून की रमक ना थी उसने उंगली मुंह से निकाल कर कुर्ते से पहुँच ली उसे अपनी ज़मीन की खसलत याद आई उसका गन्ना गांव भर में सबसे ज़्यादा रसदार हुआ करता था दूसरों के कमाद के मुकाबले में उसका कमाद मरले में डेढ़ गुना ज़्यादा गुड़ देता था बदले में जो ज़मीन शुजाबाद में उसे मिली थी वो गुजारा करती थी मगर कबीरे की ज़मीन जैसी लायक ना थी खेतों के किनारे किनारे कदम रखता हुआ वो मकई के खेत तक पहुंचा। याकूबवान की मकई का छोटे से छोटा भुट्टा उसने याद किया एक हाथ लंबा होता था और पो के आखिर तक जब दूसरी की मकई पक कर सुर्ख हो चुकी होती थी उसके भुट्टे के सफ़ेद दानों से दूध निकला करता था सर्दियों की दावतों में दूसरे किसान और ज़मींदार उससे भुट्टे मांग कर ले जाते थे जिन्हें वो दूध में उबालकर मेहमानों को पेश करते थे अवानों की ज़मीन का शीरी भुट्टा इलाके में मशहूर था तेरी छली पर अंगूर लगते हैं यकूब अवान लोग कहा करते थे तेरी ज़मीन में शक्कर है वो हाथ बढ़ाकर एक भुट्टे के रेशम जैसे पत्तों को सहलाने लगा उसका जी चाहा कि वो एक भुट्टे को छील कर देखे कि उसकी खासियत वैसी की वैसी थी या कि खेत में पड़ने वाले रस्ते की मानंद बदल चुकी थी उसने ज़बान पे अपनी मकई के दूध के मज़े को महसूस किया जिसमें तालू को भाने वाली हल्की सी मिठास और कुओं के गहरे पानियों की सी हिलावत थी इश्तहा के गदूदों से लुआब बहकर उसके दांतों में भरने लगा मगर भुट्टा तोड़ने से पहले उसके दिल को एक अनजाने वसवसे ने घेर लिया और वो मुड़कर वहाँ से लौट आया किकर की टहनी से उसने घोड़े की बाग तोड़ाई और सवार होकर उसे कदम कदम चलाने लगा कुछ दूर जाकर उसे भगत सिंह का डेरा नजर आया वो डेरे की दीवार के करीब पहुंचा तो बिला इरादा उसके हाथों ने बाघ खींच ली डेरा गली के कोने पे था और दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे कोने का मोड़ मुड़ना ज़रूरी था उस दरवाजे के कुछ फासले पर याकूब वान का पुराना घर नज़र आता था घोड़ा मोड़ से पहले खड़ा था और उस पर सवार याकूब वान का दिल फड़क रहा था आखिर उसने जी छोड़ दिया उसने घोड़े का रुख पीछे को मोड़ा और उसी सुस्त चाल से कदम कदम चलाता वापसी के रास्ते पर हो लिया सिर्फ एक बार खेतों के पास रुककर उसने अपने पीछे गांव पे निगाह डाली जिसकी मटियाली दीवारें अंधेरे में झिलमिला रही थी जिसका लहू अब एड़ियों से लेकर थोड़ी तक खुश्क हो चुका था और आंखें उस आखिरी मंजर को लिए लिए ठहर गई थीं एक और साथ गुजरी तो वो आंखें पत्थर बन गईं पाँच सातों के अंदर जिंदगी तस्वीरों की सूरत गुजर कर मादूम हो गई याकूब अवान को रोने वालों में एजाज था और उसकी मासी एजाज की बीवी सकीना मरने वाले की तवील अजियत से थक हार कर रो रही थी और बच्चा मासी की मोटी मोटी छातियों के दबाव और उसके आंसुओं से घबराकर सिसक पड़ा था जब एजाज ने अपने आठ साल भाई को उठाकर कंधे से लगाया तो वह खुद भी रो रहा था बच्चे का रोना थमा तो एजाज ने अपने आंसू खुश किए और उसे उठाए हुए बाहर सहन में निकल आया चुप सरफराज वो प्यारे से बच्चे की पुष्ट पे हाथ फेरते हुए बोला चुप कर जाओ चुप सब कुछ ठीक ठाक है कोई बात ही नहीं चुप सो जाओ अब सो जाओ सो जाओ एजाज सहन में रुक कर खड़ा खड़ा दाएं और बाएं हिलने और नाक में गुनगुनाने लगा उसे कोई लोरी ना आती थी कुछ देर तक वो इसी तरह सरफराज को हिलकोरे देता उसकी पुश पर हाथ फेरता और एक गैर यकीनी सी धुन गुनगुनाता रहा सरफराज की कसमसाहट बंद ना हुई लेकिन सिसकियाँ रुक चुकी थीं अब सो जाओ शाबाश एजाज उससे मतवातर बातें कर रहा था तुम तो अब बड़े हो गए हो कल तुम आठ साल के हो गए थे कल मैंने मिठाई लेकर दी थी ना तुम अब जवान हो गए हो आज पाकिस्तान की सालगिरह भी है पाकिस्तान भी आज आठ साल का हो गया है तुम पाकिस्तान से बड़े हो तुम्हें पता है तुम पाकिस्तान से पूरा एक दिन बड़े हो देखा बड़े आदमी नहीं रोया करते चलो अब सो जाओ शाबाश एजाज को और कुछ ना सूझा तो कौमी तराना गुनगुनाने लगा ये सरफराज को भी ज़ुबानी याद था हर रोज़ सुबह सवेरे स्कूल लगने से पहले सारी जमातें मैदान में जमा होकर और अगर बारिश हो तो स्कूल के बरामदों में सारे मास्टरों समेत सब मिलकर कौमी तराना गाया करते थे और सरफराज अक्सर इसे घर पे भी गाता रहता था पाक सर ज़मीन शादबाद कीश्वर हसीन शादबाद तू निशान अज़म आली शान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद अनजाने पहचाने अल्फाज और मानूस धुन को सुनकर सरफराज के दिल को चैन आने लगा वो इन अल्फाज और इस धुन को जो स्कूल के हर किसी सबक से ज़्यादा उसकी याद का हिस्सा थे दिल ही दिल में एजाज की आवाज़ के साथ साथ दोहराने लगा उसे एजाज के अल्फाज तुम पाकिस्तान से बड़े हो बार बार याद आ रहे थे जब तक एजाज उसे कंधे से लगाए लगाए आखिरी अल्फाज सायाए खुदाए जुल जलाल तक पहुंचा सरफराज को दिल में यकीन आ चुका था कि चूंकि वो पाकिस्तान से पूरा एक दिन बड़ा है इसलिए यह तराना अब उसकी मलकियत है अपने छोटे से जहन में इस ख्याल के आते ही सरफराज ने महसूस किया कि जैसे उसके हाथ में कोई कीमती माल आ गया हो उसका दिल अब ठहर चुका था